बसमीम वतहक़ीक़ ذلك أن الكلام إما أن يكون له نسبة इल्म मानी का बयान चल रहा है अलबाबुस्तानी इल्म मानी हम्म? कौन सा बाब हाँ, अलफन अव्वल पहला फन कायम इल्मिल मानी इल्म बयान में किसमें इल्म तो बयान में है माशा तो पहला फन इल्म बयान में है इल्म मानी बयान में बयान लगा सुनने में लगा होगा बोलने में नहीं हुआ तो देखो ये इनमें माने के बारे में सन शुरू हुआ था फिर सफेद के गुजर भी चुके हैं यहाँ पर ये बतला रहे थे कि इनमें मानी का जो मकसूद है वो आठ अखबाब के अंदर मुनहसर बतलाए थे कौन कौन से अहवाल इसनाद खबरी है एक अहवाल मुस्ंद इले है दो अहवाल मुस्ंद है तीन और अहवाल मुतलक़ात चार फसल है पाँच इंशा छः फसल और वसल ये दोनों एक साथ हैं सात इजाज इतनाब और मुसावत आठ फिर इसकी वजह हजर बदलाई थी जनरल कलाम इम्मा खबर और इंसान इसलिए कलाम या तो खबर हो गया इंशा कलाम यादव खबर हो गया इंशा होगा अब <clears throat> फिर आगे मतन के अंदर बतलाया था कि कल कलाम इम्कान ही खारिज तुताबिक अवला तुताबिक बस कलाम अगर उसके लिए उसकी नस्बत के लिए कोई खारिज हो उसकी नस्बत के लिए कोई खारिज हो तो वो खारिज मुताबिक हो उस नस्बत के वो खारिज मुताबिक हो है ना इस तौर पर के वो दोनों सबूती हों या वो दोनों क्या हों तलबी हो अवला मुताबिक हो या उसके मुताबिक ना हो यानी इस तौर से कि वो नस्बत जो समझी जा रही है कलाम से वो सबूती हो और जो उनके दरमियान है खारिज और वाकई के अंदर वो सलबी हो या इसका बरक्स हो यानी वो नस्बत जो समझी जा रही है कलाम से वो सलबी हो और वो नस्बत जो उनके दरमियान हो हम्म, खारिज और वाकई के अंदर वो क्या हो सबूती हो अरे बिला ख़बरुन तो वो खबर है फल कलाम खबरुन तो कलाम खबर है फिर वाइल्ला और अगर नहीं वरना क्या मतलब इल्लम नकुनस्बत ही खारिज कदालिक यानी अगर उसकी नस्बत के लिए इसी तरह कोई खारिज ना हो यही नस्बत उसके मुताबिक हो या उसके मुताबिक ना हो तो फरमाते हैं फ़ैनशाउन तो वो इंशा है ये सारी की सारी बातें कल तफसील के साथ बतलाई जा चुकी थी अब यहाँ से जालिका से तो क्या कहना चाहते हैं व यहाँ पर एक चीज़ की तहकीक कर रहे हैं खबर और इंशा इनके दरमियान जो फ़र्क है उस फ़र्क की तहकीक बयान की जा रही है खबर जो होती है खबर उसके अंदर तीन चीज़ें होती है क्या क्या जुमला खबरिया तीन चीज़ें होती है ना जैदन जैद खड़ा है क्या क्या है इसके अंदर मासूम वाले मासूम ही नस्बत और दूसरे तौर पर कहो मुस्ंद इले मुस्ंद और इसनाद ये तीन चीज़ें होती हैं और इंशा जो होता है इंशा उसके अंदर भी तीनों चीज़ें होती हैं मुस्ंद मसना दिल और स्नान तीनों चीजें होती रिब तो देखो क्या है असर रिब अंता तो रिब बैल और अंता जमीर फाइल इजरिब क्या है यहाँ पर है इजरिब मुसनद है ना और अंता जो है वो क्या है जमीर पोशीदा है मुसनद इले सुमार से नस्बत हो रही ना और इसके अंदर निस्बत भी है मारने की नस्बत अंता की तरफ कर रहे हैं ठीक है ना नाक भी है इसके अंदर तो तीनों चीज़ें इसमें भी हैं और इसमें भी फ़र्क क्या फ़र्क ये है कि उसके अंदर नस्बत इसके अंदर इंसा के अंदर तो ये मकसूद नहीं होती इनका इरादा नहीं किया जाता जैसे मकसूद होती है और खबर के अंदर ये क्या होती है होना होती इंसान के अंदर भी है लेकिन उसके अंदर मकसूद नहीं होती उसका इरादा नहीं किया जाता बाकी खबर के अंदर इरादे किया जाते और वो मकसूद होती है ये थोड़ा सा फर्क है उसी को यहाँ से बयान फरमा रहे हैं ये ऐसी तहकीक है जो शायद अब से पहले सामने न आई होगी आई नहीं आई होगी व तहकीक और इसकी तहकीक ये है कि कलाम इम्मा अन लहू निस्बत कि कलाम उसके लिए यानी कलाम के लिए या तो निस्बत होगी बिहाइसु तहसुल मिन लफ्जी इस हैसियत से कि वो लफ्ज से हासिल हो रही होगी है ना लफ्ज समझ में आ रही होगी और लफ्ज वयकून लफ्ज मुजिद अल्लाह और लफ्ज उसको उस नस्बत को वजूद देने वाला होगा है ना मौजूद करने वाला होगा मिन गैर कस्तिन कस्त के बगैर इरादे के बगैर ये फर्क मिन गैर कस्तिन इला कौनी दालन अला नस्बतिन हासिलतिन फिलवाक़ी बैन शैनी उसके उस नस्बत पर दलालत करने वाला होने के इरादे के बगैर जो नस्बत हासिल होने वाली है वाक़ में बैन शी दो चीज़ों के दरमियान वही उसमें दो मुस्म दिले दो चीज़ों के दरमियान जो नस्बत हासिल हो रही है वाक़े के अंदर खारिज के अंदर तो वहाँ पर उसका इरादा ना हो तो क्या है फैंसा तो इंसा है या उसकी नस्बत इस हैसियत से हो कि इरादा किया जाए कि उसके लिए नस्बत खारजी या है देखो यहाँ पर युग इरादा किया जाए और वहाँ पर क्या था गैर मकसूल गैर यानी इरादा न किया जाए मिन गैर खसिन तो इरादे और गैर इरादे का फ़र्क है मकसूद और गैर मकसूद होने का फ़र्क है बाकी नस्बत दोनों के अंदर पाई जाती है या उसकी नस्बत इस हैसियत से हो कि इरादा किया जाए कि उसके लिए नस्बत खारजिया है जो उसके मुताबिक है या उसके मुताबिक नहीं है फहुअल खबर तो वो खबर है आगे होगी यहाँ तक की बात समझ में जो इंशा होता है मैंने बतलाया था कि उसके अंदर भी मुताबकत और अदम मुताबकत भी हो सकती है लेकिन उससे इरादा नहीं होता जैसे इजरिब अंता जैदन इजरिब जैदन तू जैद को मार तो खारिज के अंदर वो है या नहीं तू जैद को मार तो अगर हम इससे मुराद ये ले रहे हैं इरादा कर रहे हैं कि भाई वो बाहर भी देश की पिटाई असल मकसूद है कि भाई मारो देश को असल अगर ये इसके अंदर मुताबकत हो जाएगी और तो ये नहीं तो फिर वैसी मिसाल दे रहे हैं तो मुताबकत नहीं लेकिन यहाँ पर इस नस्बत वगैरह का इरादा नहीं किया गया है खबर के अंदर इरादा किया जाता है अब नस्बत खारजिया जो है उसके बारे में आगे समझा रहे हैं कि नस्बत खारजिया क्या है कैसे हासिल होती है लेना नस्बत मफहूमता मिनल कलामी अलहासिलती फ़िज़हनी इसलिए कि वो नस्बत जो समझी जा रही है कलाम से जो कलाम हासिल होने वाला है जहन में हम्म वो नस्बत जो समझी गई है कलाम से कौन से कलाम से जो कलाम जहन में हासिल है जहन में हासिल होने वाला है अरे जब आदमी कोई बात कहता है तो उसमें तीन नस्बतें होती हैं है ना एक तो नस्बत जहनी नस्बत खारज नस्बत कलामी जैदुल कायमुन जैद खड़ा है तो यहाँ पर इसका जेद खड़ा है इसके अंदर एक नस्बत है ताइन की जेद की तरफ तो ये नस्बत नस्बत कलामी है इसका जहन में तस्वुर करें तो नस्बत जहनी है और खारिज में खारिज के अंदर जो नस्बत है उनके दरमियान वो क्या है नस्बत खारजिया है फरमाने हैं कि नस्बत जो समझी जा रही है कलाम से जो हासिल है जहन में ज़रूरी है कि दो शे के दरमियान हो दो शे के दरमियान हो एक को मौजू और दूसरे को महमूल बनाए जैसे हाजा जाका हाजा जाका ये वो है हाजा मौजू और जाका महमूल या हाजा लई जाका ये वो नहीं है इस तरह से अब देखो ये जो खारिज के अंदर होगी वो नस्बत होगी नस्बत खारिजिया इबारत में देखो जरा ज़रूरी है कि दो शे के दरमियान हो और जहन से क़त नज़र करते हुए हो ज़रूरी है कि इन दो के दरमियान वाक़ में एक नस्बत हो सबूतीता वाक़ में यानी खारिज के अंदर एक नस्बत हो नस्बत सबूती हो उसी नस्बत को क्या कहेंगे जो खारिज के अंदर होगी वाक़ में होगी उसी को नस्बत खारिजिया कहेंगे इसी को ये साबित करना चाह रहे हैं जहन से क़त नज़र जहन से थोड़ा हटा लो उससे क़त नज़र करते हुए उसकी तरफ नज़र न रखते हुए अब देखो कि इनके दरमियान दो चीज़ों के दरमियान जो नस्बत है वो क्या है नस्बत है खारिजिया है खारिज के अंदर नज़र करते हुए व्यन दादा का इस तौर से कि ये वो है या सलबी हो भी अल्लाह यकूना दादा का इस तौर पर कि ये वो ना हो नहीं है अच्छा जी अला तारा क्या तुम देखते नहीं हो क्या अरे टिपता नहीं तुमको क्या तुम देखते नहीं हो अन्न का इदा कुलता जईदुन फाइम के बेशक आप जब आप ये कहें जब आप कहें कि जैदुन कायम हम्म, जब आप जैदुन कायम कहें तो देखो यहाँ पर नस्बत किस चीज की है जैद की तरफ हम्म, काहे की नस्बत है हाँ, नस्बत अलक़याम मसलन इसलिए कि क़याम की नस्बत मिसाल के तौर पर हासिल रेत के लिए हम्म, क़तई तौर पर हासिल है नहीं है सैदुल जैद खड़ा है देखो क्याम की नस्बत जैद की तरफ से क्या है क़तई तौर पर हासिल है जैद के लिए खड़े होने की नस्बत है सवाउन कुलना इन नस्बता मिनल उमूर खारिजती अव लईसत मिनहा बराबर है कि हम कहें कि नस्बत उमूर खारजिया में से है या उम्र खारजिया में से नहीं है और ये माना है नस्बत खारजिया के वजूद का यानी खारिज में जो नस्बत है उसके वजूद का मतलब यही है ये जो बीच में एक बात कही है ना सवान खुलना से ये बात समझने की है यहाँ से तो हुकामा कहते हैं कि जो नस्बत होती है ना नस्बत उसका खारिज के अंदर दिखलाई देना मुमकिन है खारिज के अंदर दिखलाई देना मुमकिन है नस्बत का खारिज में दिखलाई देना मुमकिन है लेकिन अहल सुन्नत वल जमात और जो उलमा है हमारे ये क्या कहते हैं कि वो नस्बत जो है एक एतबारी चीज़ है एक एतबार कर लिया गया इनके दरमियान में एक नस्बत है जोड़ और ताल्लुक़ है नहीं कि वो खारिज में दिखलाई दे सकती खारिज में नहीं दिखलाई दे सकती तो कहा कहता है कि वो खारिज में भी दिखलाई दे सकती है तो कहते हैं कि भाई चाहे दिखे न दिखे है खारिज में नस्बत है दिखे न दिखे ठीक है बदला रहे हम कहते हैं कि नस्बत उमूर खारजिया में से हो या उम्र खारजिया में से ना हो यानी मुशाहद हो ये मतलब है कि मुशाहद हो दिखाई देती हो जैसे लिखा हुआ है कमा इन अहली सुन्नति बल्कि जैसा कि अहल सुन्नत के नज़दीक है कि वो उम्र खारजिया में से नहीं है यानी रिप्लाई नहीं देती बल्कि एतबार में से उसे एतबार किया जाता है और यही माना है किसका नस्बत खारजिया के वजूद का वल खबर लाबू बिन मुसनदिन व मुसनदिन व इसनादिन बयान पीछे से बात चल रही थी वजह हसर बयान कर रहे थे शुरू में क्या कहा था अहवाल इसनाद खबर अब ये खबर के बारे में बतला रहे हैं कि खबर के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है कौन कौन सी मुस्ंद इले मुस्ंद और इसनाद मुस्ंद इले मुस्ंद और इसनाद इन तीन चीज़ों का होना खबर के लिए ज़रूरी है और कभी उसके लिए मुतल भी होते हैं जैसे इसमें मफूल वगैरह ये आ जाते हैं तो ये मुतलक़ात है जराबा जईद अमरन जैद ने बिलाल को मारा जराबा जईद अमरन जैद ने अम्र को मारा देखो जराबा जईदन यहाँ पर ज़राबा क्या बनेगा मुस्ंद और जईदन क्या बनेगा और इनके दरमियान एक नस्बत वह स्नान है ना और ये जो आमरन है ये क्या है मकबूल है कि इसका है फ़ैल है मुतल है वलखबर वलखबर लाबुद्दलहू मिन मुस्नदिन व मुस्नदिन व इसनादिन और खबर के लिए जरूरी है किसका होना मुस्नद मुस्नद और इस्नाद का होना मुस्नद कदयकून लहू मुतलक़ात और मुस्नद उसके लिए क्या होते हैं मुतलक़ात होते हैं इरा काना फिलन जबकि फ़ैल हो औ औ माफ़ी माना हो या क्या माफ़ी माना हो यानी माने फ़ैल हो उसके माना में हो यानी शैल के माना में शिव शैल वगैरह है जैसे मस्तर है कल मस्तरी व इसमें काइली व इसमें वल मफूल जैसे कि मजदर और इसमें काइल और इसमें मफूल यहाँ पर इस इस मईल फाइली क्यों कहा इसमिल फाइली वल मफूली कह दे या क्यों लेकर इस कहना चाहिए था ना कल मस्तरी वस्मिल फाइली वल मफूली तो या क्यों बढ़ा इसके अंदर कौन बताएगा सुलेमान बताएगा सुलेमान हम्म हजरत जी फरमा दो क्या है तस्मिया नून कहाँ इसके अंदर तस्मिया में इजाफत की वजह से क्या हो गया नून का खराब हो गया चलो जैसे कि मजदार इसमें फाइल और इसमें भूल वमाश बाली का और जो इसके मुशाबे हैं इसके मुशाबे क्या मसलन जर्फ वगैरह हम्म, चलो यहाँ तक तो ये बात है अब कहते हैं वाला वजह ली तफसी हादल कलाम बिलखबरी और इस कलाम को ख़ास करने की कोई वजह नहीं है तब खबर के साथ तो इसको तुमने खबर के साथ खास कर दिया तो उसमें भी होते इस इंशा में इंसा के अंदर भी होता है खबर के साथ खास करने की कोई वजह नहीं है चारे को ऐसा लग रहा गुस्सा आ गया ये वाली सबक में एक यहाँ कह दिया और नीचे भी कह रहे कि भाई ये भी खाम खा इन्होंने बढ़ा दिया ये भी खाम खा लफ्ज़ बढ़ा दिया लिफाइद दिन का लफ्ज़ आ रहा है <laughs> यहाँ भी ये कह रहे कि भाई इन्होंने जो खास किया है इस कलाम को खबर के साथ में है इसको खास करने की कोई वजह ही नहीं लेकिन वजह है ये जो खबर है ना इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ये आज़म है मुन्ना आज़म यानी आजीम तरीन है इस वजह से इसके साथ में इसको इन्होंने मुसनफ ने जिक्र कर दिया है वकुल्लम मेरल इसनादी व ताल्लुक़ बेकसरिन और बग़ैर कसरिन हम्म। और इसनाद ताल्लुक़ इसनाद और ताल्लुक़ में से हर एक देखो एक तो इसनाद हो गया और दूसरे वो मुतलक़ात आया था ना मुतलक़ात फैल यह भी इसनाद और ताल्लुक़ में से हर एक या तो कसर के साथ होगा या बगैर कसर के होगा ये बाप गिनवा रहे हैं यहाँ से क्योंकि तो पहला बाप देखो जरा कहाँ है मुसनदल के नीचे लिखा हुआ ना हुल बाबुल अव्वल बाब अव्वल है वह मुसनदन हुल बाबुल सानी वह इसनादन हुल बाबुल सालिस है ना इनके बयान आएंगे आगे और मुतल फेल हादा बाबुल राबी हम्म। और आगे नीचे आ रहा है हाँ, बेकसरिन वलबाबुल खामिज ये पांचवा बाब अव बगैर कसरिन के इसनाद और ताल्लुक की मुस्ंद मुतक़ात होंगे इनमें से हर एक या तो कसर के साथ हो गया बगैर कसर के कसर क्या होता है हम्म। हसर हसर हसर जराबा जईदन अमरन जेद ने अमर को मारा इसमें कसर है हसर है इसमें नहीं है ना मा जराबा जईदन इला अमरन जेद ने नहीं मारा मगर अम्र को यानी जेद ने अम्र ही को मारा कसर हो गया वही तो ताल्लुक भी तो आ रहे हैं इसमें मुताल मफोल नहीं आ रहा <coughs> और इसनाद भी है ही अरे जैद ने मारा तो यहाँ पर इसनाद हुई ना हुई जेद की तरफ किसकी मारने की इसनाद हुई इम्मा बेकसिन और बेकसिन या तो कसर के साथ हो हसर के साथ या बगैर कसर के ये क्या हो गया वो अलबाबुल खामिद ये छठा बाब हो गया ये कौन सा बाब है पांचवा बाब है वकुल्ल जुमलतिन क़रीनत बिखरा इमामा सूफ़तन आलिया अगैर मासूफ़तिन और हर जुमला कि उसको मिलाया जाए दूसरे के साथ हर जुमला जिसको मिलाया जाए दूसरे के साथ इम्मा मासूफ़तन आलिहा या तो वो उस पर मासूफ़ होगा या मासूफ़ नहीं होगा ये क्या हो गया हो गया फसल वसल ये छठा बाब हो गया अरे फसल वसल हो गया नहीं हो गया अगर उस पर मासूफ है है ना पिछले जुमले पिछला जुमले अगले जुमले का आज पिछले जुमले पर हो रहा है तो फिर क्या है ये है वसल और अगर पिछले जुमले का आज है ना अगले जुमले का आज पिछले जुमले पर नहीं हो रहा है तो ये है वसल ऐसे अशार पीछे इसमें दुरुस्त बुलागा में आ भी चुके हैं और इसमें इनशाला तफसील के साथ बयान आएगा फिर बताएंगे अच्छा जी यहाँ तक ये बात होगी आगे की बात यह है कि वल कलाम इम्मा जाइदन और कलाम बलीग या तो असल मुराद पर जायद होगा असल मुराद पर जायद होगा चलिए इतना लिफायदिन किसी फायदे के लिए ध्यान से जरा और कलाम बलीग कौन सा कलाम बलीग या तो असल मुराद पर जाहिर होगा लिफायदिन किसी फ़ायदे के लिए फ़ायदे की वजह से अब गैर जाहिदिन या जाहिर नहीं होगा अब यहाँ पर देखो इससे क्या मुराद है जाहिद होगा असल मुराद पर किसी फ़ायदे की वजह से वो कौन सा होता है इतनाव होता है जो तस्वीर होती है तस्वीर उसमें भी जाहिद तो होता है कलाम लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं होता है, है? तत्वील तत्वील तत्वील जो होती है वो बगैर फायदे के होती है और इतनाब जो होता है वो फायदे के खातिर हुआ करता है हम्म। आगे देखो एह तराजा अन तत्वीली सातवा बाग हो गया है एह तराजा अन तत्वीली अला अन्नहूला हाजत बाद तफीसिल कलाम बिल बलीगी कह रहे कि एहतराज क्या है इसके ज़रिए तत्वील से क्योंकि तदवील और ऐसी हशव जो है उनके अंदर जो ज़्यादती होती है वो बग़ैर फ़ायदे के हुआ करती है किस चीज़ से एतराज़ क्या है कि तत्वील और हशव से जो एतराज़ क्या है किस लफ्ज़ से मालूम हो रहा है कौन सा लफ्ज लाकर एतराज किया है इससे लिफाइदिन क्योंकि उसके अंदर फायदा नहीं होता फायदे के फायदे की वजह से अल्फाज उसमें नहीं लाए जाते हैं आगे मुसनफ़ रहमा ऐसा लग रहा फिर गुस्से में आगे अलाजत बाद कलाम कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कलाम को बलीग के साथ मुकैद करने के बाद क्या जी कलाम बलीग तुमने पढ़ा कि कलाम बलीग के लिए ज़रूरी है क्या चीज़ कि वो खाली हो किससे अरे किससे खाली हो हशु से भी खाली हो तत्वील से भी खाली हो हम्म कलाम बलीग हशु तत्वील से खाली हो तो जब ये चीज़ कलाम बलीग में खुद है ही तो तुम्हें लिफायत कहने की ज़रूरत है जब कलाम बलीग के दिए तो ये तो आएंगी ही नहीं इसके अंदर कलाम बलीग कहा जब कलाम बलीग कहा तो कलाम बलीग कौन सा होता है जिसमें हशव और तस्वीर हो गई ना तो तुमने किया कि और कलाम बलीग तो उस वक्त में ये जो तुमने कैद लगाई लिफायदतिन की लिफायदतिन तो ज़रूरी नहीं है ना क्यों इसलिए कलाम बलीग तो वही है कि जिसके अंदर कलाम फ़ायदे के लिए हो फ़ायदे की गलत से लाया गया होगा गैर अगर फ़ायदा नहीं है तो वो कलाम बलीग कलाम रहेगा ही नहीं अगर कलाम के अंदर ऐसा कलाम ला दिए गए ऐसे अल्फाज ला दिए गए कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं तो वो कलाम ही नहीं रहेगा कलाम ही नहीं रहेगा क्योंकि फरमारे अला अलावा इसके अलावा ये है कि भाई इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कलाम को बलीग के साथ मुकैद करने के बाद है कोई बात होगी हाँ। गैर जाहिदिन अरे इम्मा जाहिद नाड़ा असल मुराद या तो असल मुराद पर जाहिद होगा या जाहिद नहीं होगा और वो क्या है अरे इजाज और मुसावात है इजाज और मुसावात है इजाज के अंदर क्या होता है इजाज के अंदर अरे एजाज क्या करता है चाय बना इजाज के अंदर इजाज इजाज और मुसावात कौन सा कलाम होता है हम्म? हाँ, जितने अल्फाज उतनी बात जितने माना उतने अल्फाज और इजाज अल्फाज कम और माना जाहिर लेकिन वो कम अल्फाज ऐसे हैं कि जो जाहिर माना को तो पूरा अदा कर देते तीन चीजें हैं इजाज इतनाब और मुसावत इजाज तो है कि कम अल्फाज हों और उसके अंदर माना जायद ज़्यादा माना पर वो दलालत कर देते हैं पूरी मुराद जाहिर कर देते हैं जैसे मतन होते हैं मतन तो कम होते हैं इनमें अल्फाज लेकिन ये अपने माना को और मुराद को जाहिर कर देते हैं कम अल्फाज में इसी तरह मुसावत के जितने अल्फाज उतने ही बात जैसे दुरुसुल बलागा है तो दुरुसुल बलागा में अमूमन यही होता है कि जितने माना जितनी बात है और उतने ही संदर्भ अल्फाज है लागत में किताब है वो ऐसी थोड़ी लपेट देंगे जी तस्वीर कर दें और तीसरे क्या बताया मुसावत हाँ, इतनाब इतनाब ये है कि ज़्यादा अल्फाज और कम माना कम बात लेकिन जो अल्फाज बढ़ाए गए हैं वो फायदे के लिए होते हैं अगर फायदे के लिए ना हो तो उनको क्या कहेंगे तस्वीर कहेंगे उसका खश है पल्ले पड़ रही कुछ बात ना पड़ हाँ, रही चलो तो हादा कुल्लू जाहिर ये सब का सब जाहिर है पल्ले तो पढ़नी पढ़नी लाकिन ला ताइल तहत लेकिन इसके तहत कोई फायदा ही नहीं इसको जिक्र करने की जरूरत पड़ रही कि इनको बाबू को जो इस तरह से तुमने जिक्र किए हैं इतने सारे बनाकर इनको तो कम में भी ला सकते थे क्यों لأن جميع ما ذكره من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابليه إنما هي من أحوال الجملة अब मुस्ंदी नहीं अब मुस्ंदी देख ध्यान से देखिए जरा इसलिए के वो सब जिसको जिक्र किया है यानी कसर फसल वसल ईजाद और उसके दोनों मुकाबिल यानी इतनाब और मुसावात इन नमा ही अमिन अखबार जुमला बस ये या तो जुमले के अहवाल में से हैं या मुसनदिले के अहवाल में से हैं या मुसनद के अहवाल में से हैं जब इनके अहवाल में से हैं तो इनको जो है इन्हीं के अंदर जिक्र कर देते कसर फसल वसल वगैरह इनको मुस्तकिल जो है अलग से बाप बनाने की क्या ज़रूरत थी ये कह रहे हैं उसी में कर देते बाप भी कम हो जाते जैसे ताकि तकदीम वगैरह को तुमने उन्हीं के अंदर शामिल कर दिया उनको अलग से जिक्र नहीं किया अलग से अहबाब उनके कायम नहीं किए मिसल ताकीद व तकदीम व तखीर वगैरह जैसे ताकीद तकदीम तखीर वगैरह इनको जो इन्हीं के अंदर जिक्र कर दिया है अलग से अलग से इनके लिए बाप कायम नहीं किए इसी तरह ये जो है सब फसल फसल वसल वगैरह इनको भी या तो अखबाल जुमला में से या मुस्लिम दिले में से या मुस्लिम में से इन्हीं के अंदर जिक्र कर देना चाहिए था अब कहते हैं भाई इनको मुसन्फ़ ने जो अलग अलग जिक्र किया है तो मुसन्फ़ के लिए ज़रूरी था कि इन बाबों को अलग अलग जिक्र करने की वजह बयान करते फल वाजिबू की हादल मकामी बयान सबब इफराद यहाँ वजालिहा अबुआबन बिरा बस ज़रूरी था इस मकाम ने उनके अलग करने के सबब का बयान करना अलग करने की वजह का बयान करना अनगैरिया उसका अलावा से यानी जो उनमें से जो है मुसरन दिले और अखवाल जुमला में नहीं किया उनके अलावा से इसको अलग किया है इसकी वजह बयान करनी चाहिए थी वजह आलिया अबुआ बनबिया और उनके जो मुस्तकिल बाब करने का सबब बयान करना क्या था वाजिब था यानी तुमने उसको जो मुस्तकिल बाब करार दिया है मुस्तकिल इसको बाप बनाया है तो इसका सबक बयान करना चाहिए था कहते हैं वक़द लखना लाही हमने इसको शराह के अंदर मुलखस कर दिया यानी उसके अंदर इसका खुलासा बयान कर दिया है और हमने इसका शराह में खुलासा बयान कर दिया है जिसका जी चावे मुस्तबल उठाए और देखे तो ये तो बात इन्होंने कही लेकिन तो ये मुस्तार अली रहमान ने यहाँ पर गोया के मुसनफ़ पर आज के सबक में तीन एतराज़ किए एक किया वहाँ अला वजली तफ्ती से हादल कलाम बिलखबर फिर एक किया यहाँ पर अला अन्ना हाजत तफीद कलाम बिलबलीग और तीसरा यहाँ नीचे कर दिया कि लाकिन ला ताइला ताहतहू किसको शुमार कर देते लेकिन यह क्या हर एक का कुछ ना कुछ फवाद हैं और कुछ ना कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से इन्होंने अलग अलग जिक्र किया जैसे इसमें ये है फसल वसल वगैरह है तो ये लंबे लंबे बयान हैं और फिर इनकी जो कुछ खसूसियात वगैरह वो सब तो इसलिए मुझे अलग जिक्र कर दिया हर एक के अपने अपनी सोच जैसे जो